पहला प्रश्न भगवान आप अपनी मृत्यु की बात करते हैं तो मैं कांप जाती हूं प्रभु हमसे नहीं सुना जाता है हम तो आपके बिना नहीं रह सकते यह सोचकर भी दिल दहल जाता है धर्म भारती जीवन को न जानने के कारण मृत्यु का भय जिससे प्रकाश न हो तो अंधेरा होता है प्रकाश हो अंधेरा नहीं होता हम जीवित तो हैं लेकिन ठीक ठीक अर्थों में नहीं मुर्दा मुर्दा से मरे मरे से हमारी बस्तियां मरघट से ज्यादा नहीं मुर्दों की टीले हैं जीवन को जाना न हो तो कोई जीवित कैसे हो सकता है और जीवन का अपरिचय ही मृत्यु का भय बन जाता है स्वभावता है फिर अपनी मृत्यु का भय होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी मृत्यु का भय होता है मृत्यु का ही नहीं मृत्यु शब्द तक से मन कांप उठता है पर ना समझी है मृत्यु बड़े से बड़ा असत्य है उससे बड़ा कोई और असत्य नहीं दुनिया में दो ही असत्य हैं और दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू समझो एक है अहंकार और दूसरा है मृत्यु अहंकार पहला असत्य है मृत्यु दूसरा असत्य अहंकार का अर्थ है मैं पृथक हूं अस्तित्व से जीवन से बस यहीं से भ्रांति शुरू होती जैसे कोई लहर अपने को सागर से भिन्न मान ले मान लेने से भिन्न हो नहीं जाती मगर मान लेने से भय पैदा होता है कि कहीं मिट ना जाऊं कहीं सागर में खो ना जाऊं तो अपने को बचाने की कोशिश में लग जाती वही मनुष्य की चिंता है संताप है लहर सागर है मिटके भी मिटेगी नहीं बनके भी बनी कहा न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है लहर केवल एक रूप मात्र है इसलिए ज्ञानियों ने हमारे तथाकथित अस्तित्व को नाम रूप कहा है लहर एक नाम है यूं तो सागर ही है जरा गहरे झांको तो सागर को ही पाओगे जरा डुबकी मारो सागर ही मिलेगा और लहर खोएगी कैसे जब थी ही नहीं तो खोने का कोई उपाय नहीं है अहंकार हमारी पहली भ्रांति फिर अड़चनों का सिलसिला शुरू होता है फिर चिंता पकड़ती है कहीं मैं मिट न जाऊं पहले तो मान बैठे कि मैं हूं बिना सोचे समझे मान बैठे कि मैं हूं न देखा न खोजा न जांचा न परखा भीतर गए नहीं बस मान लिया एक विश्वास है कि मैं हूं इससे ज्यादा नहीं जिस दिन तुम जानोगे मैं हूं ही नहीं उस दिन मृत्यु भी मिट गई फिर कौन मिटेगा फिर परमात्मा है मैं को हम पकड़ते हैं जोर से जितने जोर से मैं को पकड़ते उतना ही भय छा जाता है क्योंकि कहीं गहरे में कहीं अचेतन में यह प्रतीति तो बनी ही रहती है कि मिटना होगा हम जिसे पकड़े हैं वो आभास है लाख कोई अपने को धोखा दे तिनकों के सहारे सहारे नहीं होते समझा लो भला थोड़ी देर मन को पर देर अबेर भ्रांति टूटेगी ही रोज रोज टूटती है कोई मरता है कोई अर्थी निकलती और तुम्हें भी पता चलता है मरना होगा यूं ही अर्थी निकलेगी न हम मरना चाहते हैं न जिन्हें हम प्रेम करते हैं चाहते हैं कि वे मरे मगर मजा यह है कि मरता कोई कभी है ही नहीं इसलिए चिंता बिल्कुल व्यर्थ है चिंता यूं है जैसे नंगा नहाता नहीं इस डर से कि नहाएगा तो निचोड़ेगा कहा कपड़े सुखाएगा कहा कपड़े हैं ही नहीं लेकिन निचोड़ने और सुखाने की चिंता नहाने नहीं देती नंगा तो जी भर के नहाए क्या डर है उसका क्या खो जाएगा पर हमने मान लिया है कि हम हैं ये मनुष्य जाति का मूलभूत पागलपन उसको ही तुम स्वभावता मुझ पे भी आरोपित कर दोगे मैं चाहता हूं कि तुम जागो इस भ्रांति से इस सपने से लेकिन तुम अपने सपने को मुझ पर ही आरोपित कर दोगे मैं चाहता हूं तुम्हारी आसक्ति टूटे मिटे लेकिन तुम अपनी आसक्ति का जाल मुझ पर ही फेंक दोगे हमारे एक दोस्त थे रामलाल राणा मस्तक की मशीन में जाने क्या गड़बड़ हुई खुद को सुमशीन लगे गेहूं का दाना जहां कहीं मुर्गा दिखे डर जाए ये तो हमें खा लेगा जीते जी मर जाए जहां कहीं बोरा दिखे घबराए बिदक जाए कोई इसमें हमें भर लेगा बोरे को बंद कर लेगा और कहीं आटे की जक्की पड़ जाए दिखाई तो वहां से भाग लेते राना भाई यहाँ हो जाएगी हमारी पिसाई खैर कुछ शुभ चिंतकों ने उनका दिमाग ठीक करने को एक फॉर्म भरवा दिया पागल खाने में दाखिल करवा दिया डॉक्टर ने समझाया डियर राना तुम्हारे दो कान हैं दो आंख हैं दो पैर हैं दो हाथ हैं चलते हो बोलते हो कैसे हो सकते हो गेहूं का दाना पर राना नहीं माना सो नहीं माना खुद को समझता रहा गेहूं का दाना अस्पताल में एक वर्ष बीत गया अचानक एक दिन राना डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मैं भी हूं कितना भोला देखिए तो मेरे दो कान हैं दो आंख हैं दो पैर हैं दो हाथ हैं चलता हूँ बोलता हूँ आदमी हूँ गेहूं का दाना कैसे हो सकता हूँ अगर अब भी आप मुझे गेहूं का दाना समझते हैं तो आपके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है हजूर मेरा कुछ नहीं है कसूर डॉक्टर ने छुट्टी दे दी आधा घंटे बाद राना फिर आया पसीने से लथपथ कांपता हुआ हाँपता हुआ डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ भाई राना क्या फिर से खुद को समझने लगे गेहूं का दाना मैं तो अच्छी तरह समझ गया हूँ बिल्कुल आदमी बन गया हूँ साहब लेकिन अभी मुर्गे की समझ नहीं आया सुनते हो मुझे अच्छा समझ भी लेते हो बौद्धिक रूप से लेकिन प्राणों की गहराई में बात नहीं उतर पाती वहां अहंकार के साथ बहुत से स्वार्थ जुड़े वहां तो अहंकार की नई नई आयोजनाएं चल रही हैं वहां तो अहंकार कहता है यूं सजाओ मुझे यूं श्रृंगार करो ऐसा धन ऐसा पद ऐसी प्रतिष्ठा अहंकार नहीं है ये मानो तो कैसे मानो क्योंकि ये मान लो तो तुम्हारे जीवन की जो तथाकथित यात्रा चल रही है ये पूरी की पूरी गिर जाए तत्क्षण बिखर जाए मृत्यु से तो तुम बचना चाहते हो तुम भी चाहोगे कि मृत्यु ना हो मगर अहंकार को नहीं छोड़ सकते यही विडंबना है और जब तक अहंकार को पकड़े हो मृत्यु से भाग नहीं सकते बच नहीं सकते अहंकार छोड़ नहीं सकते क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सार है सूत्र है अहंकार को हटा लो सब खेल बिखर जाता है फिर न चुनाव है न आपाधापी है न प्रतियोगिता है न प्रतिस्पर्धा है न जलन न ईर्षा न मैत्री न द्वेष सब खो जाता है अहंकार के जाते ही सारा संसार तिरोहित हो जाता है ये सारा संसार तुम्हारा अहंकार के वृक्ष पर ही लगे पत्ते उस पर ही खिले फूल ये अहंकार की फड़फड़ाहट है और तुम डरते हो अहंकार नहीं है तो फिर मैं करूंगा क्या फिर बचता क्या है करने को फिर लगेगा एक शून्य में डूबने लगे उससे तो बेहतर है अहंकार में ही उलझे रहो मगर मौत से डरते हो और अहंकार के पीछे मौत आएगी ही आएगी क्योंकि झूठ को कब तक संभालोगे एक न एक दिन गिरेगा टूटेगा बिखरेगा मैं चाहता हूं कि तुम समझो ना तो मैं कभी जन्मा हूं ना कभी मरूंगा जन्म भी एक घटना है जीवन में और मृत्यु भी एक घटना है लहर का उठना लहर का गिरना दोनों घटनाएं हैं उठने के पहले भी लहर है गिरने के बाद भी लहर है और जो मैं अपने संबंध में कह रहा हूं वह तुम्हारे संबंध में भी कह रहा हूं मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं तुम्हें अभी अनुभव करना है अगर मैं तुम्हें अनुभव न करा सकूं तो मेरी मौजूदगी व्यर्थ तुम्हारा मेरे साथ होना व्यर्थ धर्म भारती तू कहती आप अपनी मृत्यु की बात करते तो मैं कांप जाती इसलिए कांप जाती कि अभी भी मृत्यु को मानती नहीं तो हंसती कांपने का क्या था कौन कब मरा है लेकिन तुझे लगता है कि तू मर सकती तो फिर हम अपनी ही भ्रांतियां तो दूसरों पर आरोपित करते जो हम अपने में संबंध में सोचते हैं उसी गणित को हम फैलाकर उनके संबंध में सोचते हैं जिनको हम प्रेम करते ये भी हो जाता है कि हम अपने प्रेमियों के प्रति इतने आसक्त हो सकते कि खुद मरने को राजी हो जाएं। न मालूम कितने पत्र आए हैं मित्रों ने कहा कि हमारी उम्र आपको लग जाए हम अपना जीवन आपको देना चाहते आपकी मृत्यु हमारी मृत्यु बन जाए और हमारा जीवन आपका जीवन तुम्हारे प्रेम को मैं समझा तुम्हारी शुभाकांक्षा को समझा लेकिन तुम्हारी भ्रांति भी है वहां हम सब शाश्वत है सनातन है तुम भी सदा से यहां हो मैं भी सदा से यहां हूं न कोई कहीं गया है न कहीं कोई आया है इस भ्रांति को अब तोड़ और जितने जल्दी तोड़ो उतना अच्छा है तू कहती है प्रभु हमसे यह नहीं सुना जाता है अगर सुना भी नहीं जाता है तो देखा कैसे जाएगा बुद्ध मरे आखिर उनके शिष्यों को उनकी मृत्यु को देखना ही पड़ा महावीर विदा हुए तो उनके शिष्यों को विदा देनी ही पड़ी अलविदा कहना ही पड़ा जीसस को सूली लगी शिष्यों को देखना ही पड़ा आंसू भरी आंखों से सही बुद्ध का शिष्य था मंजूश्री जो ना कुछ बोला न रोया न चिंता प्रकट की जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वहीं बैठा रहा लोगों ने मंजूश्री को कहा कि पागल तो नहीं हो गए सदमा क्या ऐसा पहुंचा हम रो रहे हैं दुख हल्का हुआ जा रहा है तुम रो भी नहीं रहे हो मंजूश्री ने कहा रोए वह जो जानता नहीं मैं क्यों रोऊं सदैव मुझे पहुंचा नहीं और यू नहीं है कि मंजूश्री को बुद्ध से कुछ कम प्रेम था शायद सर्वाधिक प्रेम था मंजूश्री के ऊपर बुद्ध की जितनी अनुकंपा बरसी थी शायद किसी और पर नहीं मंजूश्री बुद्ध के उन पहले भिक्षुओं में एक था जो समाधि को उपलब्ध हुए बुद्ध मंजूश्री को देखकर आह्लादित हो जाते थे वो सदा लोगों को कहते थे मंजूश्री से सीखो मंजूश्री ने जो पाया है वो पाओ उनके वचनों में जगह जगह ये मुहावरा आता है मंजूश्री की तलवार तुम पढ़ोगे तो चौंकोगे कि मंजूश्री की तलवार यानी क्या बुद्ध कहते थे तलवार हो तो मंजूश्री जैसी होनी चाहिए एक ही झटके में अपनी गर्दन काट डाली देर नहीं की क्रमिक आहिस्ता आहिस्ता नहीं एक झटके में बुद्ध ने मंजूश्री को कहा चुप हो जा बस कुछ और नहीं करना तेरे भीतर शब्द खो जाए मंजूश्री ने कहा ठीक बैठ गया एक वृक्ष के तले नहीं उठा जब तक शब्द नहीं खो गए और जब सारे शब्द खो गए तो कथा बड़ी प्रीतिकर है आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे पूछा मंजुश्री ने निश्चित ही ये पूछना शब्दों में नहीं हुआ ये पूछना भाव का रहा देवताओं से शब्दों की जरूरत भी नहीं है हृदय से हृदय संबंधित हुआ पूछा मंजूश्री ने निशब्द मौन में ये फूल किस लिए गिरा रहे हो किस बात का उत्सव मना रहे हो कौन सा महोत्सव है आज कौन सी होली कौन सी दिवाली देवता ने कहा तुमने जो धर्म पर प्रवचन दिया उसके लिए हम फूल बरसा रहे मंजूश्री खूब हंसा उसने कहा मैं तो बोला ही नहीं प्रवचन कैसा धर्म पर प्रवचन कैसा तो देवताओं ने कहा यही तो प्रवचन है धर्म पर कि तुम बोले नहीं तुम यू चुप हुए कि तुम्हारे भीतर शब्द की एक लहर भी ना रही तरंग भी ना रही धर्म के बोलने का यही ढंग है मौन से मुखर होता है धर्म शून्य में संगीत बजता है धर्म का शून्य ही उसकी वीणा है उसके तारों पर ही छिड़ती है तान ध्यान की ये परम अवस्था ये समाधि बांसुरी है इसी में उठता है वह गीत वह अनाहत नाथ जिसको नानक कहते हैं एक ओंकार है सतनाम वह ओंकार का नाद इसी शून्य में अपने से होता है करना नहीं होता रोए रोए से प्रकट होने लगता है पूरा व्यक्तित्व एक लयबद्ध संगीत में रूपांतरित हो जाता है देवताओं ने कहा इसीलिए कि तुम बोले नहीं हम फूल गिरा रहे हैं ऐसी चुप्पी कभी कभी घटती बुद्ध के बाद तुमको घटी बुद्ध से आके मंजूश्री ने कहा था ये देवता भी बड़े पागल है मैं तो चुप बैठा हूं और ये कहते हैं तुमने तुमने धर्म पर प्रवचन दिया बुद्ध ने कहा वो ठीक कहते वो पागल नहीं अभी तू तो नया नया शून्य में प्रविष्ट हुआ है इसलिए तुझे पता नहीं धीरे धीरे अनुभव होगा जैसे जैसे शून्य गहन होगा वैसे वैसे और भी और फूल बरसेंगे फूल ही फूल रह जाएंगे कांटे सब खो जाते भाव ही भाव रह जाते सुगंध ही सुगंध ये मंजस्वरी बुद्ध की मृत्यु पर चुपचाप बैठा रहा वक्तव्य ही नहीं दिया न अर्थी में सम्मिलित हुआ न अंतिम संस्कारों में बहुत कहा औरों ने कि मंजूश्वरी यह शोभा नहीं देता मंजूश्री ने कहा वे न कभी पैदा हुए न मर सकते मैं उन्हें पहचानता हूं वे अब भी वही हैं जहां थे धर्म भारती ऐसा ही मैं चाहूंगा मंजूश्री की तलवार तुम में से बहुतों के हाथों में हो तुम पर भी फूल बरसे तुम्हारे भीतर भी मौन का अनाहत नाद उठे फिर अगर मैं तुमसे मृत्यु की बात ना करूंगा तो कौन करेगा इधर तुमसे कहूंगा अहंकार छोड़ो उधर तुमसे कहूंगा मृत्यु एक झूठ है अपने ही जीवन से मुझे तुम्हें जीवन की शिक्षा देनी होगी और अपनी ही मृत्यु से मुझे तुम्हें मृत्यु का संदेश देना होगा और तो कोई उपाय भी नहीं है ये घटनाएं अस्तित्वगत हैं पीड़ा तुम्हें होती है मोह के कारण मृत्यु के कारण नहीं आसक्ति के कारण इस आसक्ति को थोड़ा ऊपर उठाओ इसे थोड़ा प्रेम बनाओ प्रार्थना बनाओ इसे पंख दो इसे आकाश में उड़ने दो आसक्ति तो यू है जैसे बीज बंद और प्रेम यू है जैसे वृक्ष पर खिलाए फूल मुक्त हो गई गंध बिखर गई हवाओं में आसक्ति से ऊपर उठो मैं सदा शरीर में नहीं हो सकता और अच्छा है कि तुम्हें तैयार करूं कि तुम मेरे अशरीरी रूप से भी संबंधित होने लगो अभी जबकि मैं शरीर में हूं तभी तुम्हें धीरे धीरे निष्णात करना है प्रशिक्षित करना है हर चुनौती का उपयोग कर लेना है हर अवसर का ऐसा उपयोग करना है कि सोने में सुगंध आने लगे दुख भी होगा पीड़ा भी होगी तुम्हें ये जानता हूं ये स्वीकार करता हूं लेकिन तुम्हारे आंसू भी शुभ है क्योंकि तुम्हारी आंखों को स्वच्छ कर जाएंगे तुम्हारी आंखें ज्यादा साफ देख सकेंगी दूसरा प्रश्न भगवान मुझे आश्चर्य है कि पूर्व सदगुरु इतनी पिटाई नहीं किए जितनी कि आप कर रहे हैं फिर भी हम लोग जागते नहीं और प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जाते हैं कृपा कर बोध देने की अनुकंपा करें मोहन वेदांत मनुष्य जैसा आज सोया है ऐसा पहले कभी सोया भी नहीं था इसलिए झकझोरना भी ज्यादा होगा क्योंकि मनुष्य ने सोने के लिए सारी सुविधाएं जुटा ली सोने के सारे आयोजन जुटा लिए इतनी सुविधाएं न थी कभी इतने आयोजन न थे कभी आज जितने गहरे तुम सो सकते हो इतना आदमी कभी नहीं सो सकता था जीवन बहुत कंजकाकीर्ण था बहुत दुखों से भरा था विज्ञान ने नए नए तकनीकों ने तकनीकों ने नई नई खोजों ने मनुष्य के जीवन से बहुत सा दुख अलग कर लिया ऊपर ऊपर ही सही परिधि पर ही सही लेकिन मनुष्य को सुख के बहुत से आयोजन दे दिए बहुत से खिलौने दे दिए जिनमें उलझा रहे इसलिए जगाने में उसके बहुत से खिलौनों को तोड़ना पड़ेगा इतने खिलौने आदमी के पास पहले कभी थे ही नहीं बुद्ध तोड़ते भी तो क्या तोड़ते महावीर तोड़ते भी तो क्या तोड़ते महावीर और बुद्ध की बात सरलता से समझ में आ जाती थी कि जीवन दुख और आज भी पूरब के देशों में जहां जीवन अभी भी महादुख है नरक है उनकी बात समझ में आ जाती लेकिन पश्चिम में जीवन दुख नहीं है नरक नहीं और पूरब में भी जिनमें थोड़ी बुद्धि है उन्होंने जीवन से दुख को कम से कम कर लिया है और जल्दी ही सारी पृथ्वी पर दुख क्षीण हो जाएगा और मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि दुख क्षीण न किया जाए कि समृद्धि न बढ़े मैं कोई दरिद्र नारायण का पक्षपाती नहीं हूं मैं तो मानता हूं समृद्धि बढ़े बटन रसल ने कहा है अगर आदमी परिपूर्ण रूप से सुखी हो जाए जैसा कि विज्ञान एक दिन आदमी को कर सकेगा तो फिर किसी को धार्मिक होने की जरूरत न रह जाएगी उसकी बात में थोड़ी दूर तक सच्चाई है अगर तुम्हारे जीवन में सब सुख हो तो तुम्हें बुद्ध की बात ठीक कैसे लगी ये कि जीवन दुख है जन्म दुख है जीवन दुख है जरा दुख है मृत्यु दुख है दुखी दुख है हजारों बीमारियां आदमी ने दूर कर ली न मालूम कितनी महामारियां समाप्त हो गई आए दिन प्लेग पड़ती थी आधे आधे देश मर जाते थे अब तो प्लेग सुनी नहीं जाती अब तो बात इतिहास की हो गई काला ज्वर लाखों लोगों को मार डालता था अब तो काला ज्वर सुना नहीं जाता अब तो सिर्फ पूरब के देशों में तुम्हें तो कभी कभी किसी बच्चे पर चेचक के दाग दिखाई पड़ेंगे पश्चिम में किसी बच्चे के चेहरे पर चेचक के दाग दिखाई नहीं पड़ेंगे पश्चिम में चेचक विदा हो गई यहां भी विदा हो रही है बीमारियां कम हुई हैं स्वास्थ्य ज्यादा उपलब्ध हुआ है पांच हजार वर्ष पहले की जो भी अस्थियां मिली हैं हड्डियां मिली हैं उनसे बहुत हैरानी की बात पता चलती कि कोई अस्थि पंजर चालीस वर्ष से ज्यादा उम्र का नहीं मिला आमतौर से तुम ये सुनते हो कि प्राचीन समय में लोग खूब जीते थे बड़ी उनकी लंबी आयु होती थी बात सच नहीं मालूम पड़ती क्योंकि 40 साल से लंबी उम्र वाला कोई भी अस्थि पंजर नहीं मिला अब तक नहीं मिला लेकिन यह हो सकता है कि 40 साल भी लंबे मालूम पड़ते हों दुख में समय लंबा मालूम पड़ता है और गिनती भी नहीं आती थी आज भी दूर देहात में जाके जहां गिनती नहीं आती अगर लोगों से पूछो कि उनकी उम्र क्या है तो उम्र नहीं बता सकते वो न उन्हें पता है कब जन्मे न उन्हें पता है कितनी उम्र बीत गई अंदाज ही है बस और ठेठ आदिवासियों को तो अंदाज भी नहीं होता चालीस साल से ज्यादा कोई उम्र नहीं होती थी आज हालतें और हैं आज 80 वर्ष तक पहुंच जाना बड़ी सरल बात है 90 वर्ष भी बहुत कठिन नहीं सौ वर्ष के बहुत लोग हैं पृथ्वी पर रूस जैसे देशों में जहां स्वास्थ्य ने बहुत प्रगति की है डेढ़ सौ वर्ष की उम्र वाले हजारों लोग पौने दो सौ वर्ष और दो सौ वर्ष तक की उम्र तक पहुंचने वाले लोग रूस में मौजूद हैं और यूं नहीं कि खाट पे पड़े कि अस्पतालों में पड़े काम में संलग्न है डेढ़ सौ साल के बूढ़े खेतों में बगीचों में काम कर रहे हैं जैसा कि जवान काम करता हो वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का ये जो शरीर है इसकी क्षमता इतनी है कि इसे बड़ी आसानी से 300 साल तक तो जलाया ही जा सकता है और ज्यादा भी सुविधाएं अगर उपलब्ध हुई तो आदमी का शरीर जी सकता है इसे इतना लंबाया जा सकता है क्योंकि इसके भीतर स्वयं को बार बार पुनरुजीवित कर लेने की क्षमता है तो रसल की बात में थोड़ी सी सच्चाई है अगर जीवन से सब बीमारियां मिट जाएं, अगर जीवन से बुढ़ापा मिट जाए जिसकी संभावना है आने वाली सदी में बुढ़ापा अतीत की बात हो जाएगी हम में से बहुत लोग अपने जीवन में ये देख सकेंगे कि बुढ़ापा अतीत की बात हो गई क्योंकि बुढ़ापा एक खास चीज पर निर्भर आदमी जब पैदा होता है तो माँ बाप के जिन जीवाणुओं से मिलकर बनता है उन जीवाणुओं में उम्र तय होती अगर उन जीवाणुओं के प्रोग्राम को बदला जा सके तो उम्र को कितना ही किया जा सकता है कितना ही लंबाया जा सकता है और विज्ञान धीरे धीरे सफल हो रहा है कि उनकी अंतर्निहित प्रक्रिया को बदला जा सकता है तो बुढ़ापे को काटा जा सकता है फिर कौन मानेगा बुद्ध की बात कि बुढ़ापा दुख बुढ़ापा होगा नहीं फिर कौन मानेगा कि जीवन पीड़ा है जीवन बहुत सुखद हो सकता है जीवन में नब्बे प्रतिशत दुख तो हम अपने कारण बनाए हुए जीवन में नहीं मगर फिर भी मैं रसल से राजी नहीं हूं पूरा पूरा क्योंकि मेरा मानना है कि कितना ही जीवन सुखद हो जाए तो भी धर्म समाप्त नहीं हो जाएगा हाँ इतना ही होगा कि सदगुरुओं का काम थोड़ा जटिल हो जाएगा थोड़ा कठिन हो जाएगा लोगों को जगाने के लिए पुराने आदिम ढंग काम में नहीं आएंगे नए ढंग काम में लाने होंगे जैसे विज्ञान विधियां उपयोग करता है मनुष्य को सुनाने की सुख में वैसा ही धर्म को भी विधियां उपयोग करनी पड़ेंगी जगाने की मैं उन सारी विधियों पर ही प्रयोग कर रहा हूं मेरी उत्सुकता सिर्फ तुम में ही नहीं है मेरी उत्सुकता उनमें भी है जो तुम्हारे पीछे आने वाले हैं मेरी उत्सुकता भविष्य में है इसलिए मेरा अतीत के धर्मों में बहुत रस नहीं है उनके दिन लद गए वो भाषा पुरानी पड़ गई और भाषाएं पुरानी पड़ ही जाएंगी वे सिद्धांत भी पुराने पड़ गए अब हमें नई प्रक्रियाएं खोजनी होंगी जीवन ही बदल गया पूरा का पूरा जीवन बदल गया अब हमें लोगों को जगाने के लिए भी नए आयोजन करने होंगे इसलिए यह आश्रम इस पृथ्वी पर अपने किस्म का अकेला आश्रम है जिन प्रक्रियाओं से यहां सन्यासी गुजर रहे हैं दुनिया में कहीं नहीं गुजर रहे कम से कम भारत में तो जो आश्रम है वो उन्हीं पिटी पिटाए लीकों पर चल रहे हैं इसलिए वहां बूढ़ों को ही बात जमती यहां लोग आके चौंकते हैं जब इतने युवक और युवतियों को देखते हैं तो उनको भरोसा नहीं आता मुझसे आके पूछते कि इतने युवक और युवतियां धर्म में उत्सुक हो इस पे हमें भरोसा नहीं आता क्योंकि चर्चों में मंदिरों में तो बूढ़े और बूढ़िया दिखाई पड़ते हैं उसका कारण है उसका कारण है चर्च और मंदिर की भाषा अत्यंत दकियानुसी हो गई वो सिर्फ बूढ़ों की समझ में आ पाती बूढ़े जो कि समसामयिक नहीं है मैं जो भाषा बोल रहा हूं वो शायद बूढ़ों की समझ में ना आए वो युवकों की समझ में ही आएगी इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन दुख है और जीवन का त्याग कर दो मैं ये कह रहा हूं कि जीवन महासुख है जीवन को भोगो जी भर के भोगो जीवन का सारा रस निचोड़ लो जीवन में एक बूंद भी मत छोड़ो और तभी तुम्हें पता चलेगा कि जब जीवन इतना रस है तो महाजीवन कितना न होगा पुराण धर्म कहता था जीवन दुख है इसलिए परमात्मा को खोजो क्योंकि परमात्मा सुख है मैं कहता हूं जीवन सुख है इसलिए परमात्मा को खोजो क्योंकि परमात्मा महासुख है इस भेद को समझना ये भेद बुनियादी है आधारभूत है इसलिए दखियानुषी लोग अगर मुझसे नाराज हो तो आश्चर्य नहीं उनका कसूर भी क्या है मैं उनकी नाराजगी समझ सकता हूं क्योंकि मैं सारे मापदंड बदल रहा हूं मैं नई धारणाएं स्थापित कर रहा हूं नए मूल्य निर्धारित कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जीवन सुख है इतने से राजी मत हो जाना क्योंकि अभी महासुख भी मिल सकता है जीवन को सीढ़ी बनाओ अगर ये शरीर का जीवन इतना सुख हो सकता है तो आत्मा का जीवन कितना सुख न होगा इसकी थोड़ी कल्पना करो मैं तुम्हारी कल्पना पर निखार देना चाहता हूं मैं तुम्हारे भीतर नई आशाओं के सूरज उगाना चाहता हूं मैं तुम्हारे भीतर एक नई अभीपसा को प्रज्वलित करना चाहता हूं मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाना चाहता इसलिए स्वभावता तुम्हें जगाने के लिए मुझे बहुत झकझोरना पड़ेगा क्योंकि मैं कहता हूं जीवन सुख है सुख में आदमी सो जाता है दुख में सोना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे सिर में दर्द हो तो सोना मुश्किल हो जाता है हाँ दर्द को मिटाने की गोली ले लो एस्प्रो ले लो फिर नींद आ जाती एक कांटा भी पैर में चुभ रहा हो तो सोना मुश्किल हो जाता है जरा सा भी दुख हो तो जागना आसान होता है सोना कठिन होता है और सुख हो तो जागना मुश्किल हो जाता है सोना आसान हो जाता है और चूंकि मैं कह रहा हूं जीवन सुख है और मैं जीवन विरोधी नहीं हूं जीवन का पक्षपाती हूं कहता हूं कि जीवन और परमात्मा पर्यायवाची है परमात्मा महाजीवन है जीवन उसका द्वार है परमात्मा मंदिर है तो जीवन उसके मंदिर की सीढ़ियां है तो फिर निश्चित ही मुझे जगाने के लिए खूब तुम्हें झकझोरना पड़ेगा फिर दुख से तो कोई भी जागना चाहता है एक तो सो नहीं सकता अगर सो भी जाए तो जागना चाहता है लेकिन सुख से नींद भी गहरी आती और सोया हुआ आदमी जागना भी नहीं चाहता तुमने देखा अगर तुम्हें दुख स्वप्न आता हो तो दुख स्वप्न तुम्हारी नींद को अपने आप तोड़ देता है जैसे तुम देख रहे हो कि तुम गिर रहे हो पहाड़ से और अब टकराए चट्टान से अब टकराए चट्टान से बस टकराओगे और छितर बितर हो जाओगे नींद टूट जाएगी कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारी छाती पर एक सिंह आके बैठ गया है और बस अब तुम्हारी छाती को चीरने फाड़ने की तैयारी कर रहा है उसके नाखून उसकी हुंकार तुम सोए रहोगे तुम जागी जाओगे लेकिन तुम एक सपना देख रहे हो कि तुम्हारे सोने का महल है सुंदर रानियां हैं बड़ा राज्य है जीवन में सुख ही सुख है कैसे जागोगे हाँ कोई जगाना भी चाहेगा तो भी मुश्किल होगी जो जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा जो जगाना चाहेगा तुम उसे झिड़कोगे तुम कहोगे कि भाई सोने तो गड़बड़ ना करो परेशान ना करो अगर तुमने खुद ही अलार्म भर के रखा होगा तो तुम खुद ही अलार्म बंद कर दोगे और करवट लेके सो जाओगे तुम पूछते हो वेदांत मुझे आश्चर्य है कि पूर्व सदगुरु इतनी पिटाई नहीं किए जरूरत न थी आदमी वैसे ही काफी पिटा हुआ था आदमी खुद ही मरा जा रहा था इतने दुख में दबा जा रहा था आदमी को सांत्वना की जरूरत थी संतोष की जरूरत थी आज हालत बिल्कुल बदल गई जीवन ने नया मोड़ ले लिया है हम एक क्रांति से गुजर गए और हम एक क्रांति से गुजर रहे हैं और वह क्रांति यह है कि मनुष्य का जीवन रोज रोज सुख से भरता जा रहा है इसलिए तुम्हें खूब झकझोरना पड़ेगा तुम्हें जगाने के लिए बहुत प्रगाढ़ आयोजन करने होंगे इसलिए मैं तुम्हें कूटूंगा पीटूंगा तुम्हारी आंखों पर ठंडा पानी छिड़कूंगा बर्फीला पानी तुम यू ना उठोगे तो खींचूंगा बिस्तर से तुम्हारा कंबल छीन लूंगा उसी से तुम नाराज हो जाते अब जो आदमी छुरा फेंका वो क्यों फेंका चार दिन से सुन रहा था आके उसको लगा होगा मेरा कंबल ही छीन लेते कि मैं मजे की नींद में सो रहा हूं मेरी नींद खराब किए देते मेरी धारणाओं को तहस नहस किए देते मेरे धर्म पर आघात हो रहा है तुम सीधी बात नहीं कहते कि हमारी नींद पर आघात हो रहा है कहते हो धर्म पर आघात हो रहा है मगर सच्चाई ये है कि सिर्फ तुम्हारी नींद पर आघात हो रहा है लेकिन तुम अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करने के आदि हो गए हो अच्छे शब्दों की आड़ में छिपा लेते हो अपने को अपनी तंद्रा को अपनी निद्रा को अपनी बेहोशी को तुम पूछते हो वेदांत फिर भी हम जागते नहीं और प्रश्न पर प्रश्न पूछे चले जाते पुराने सदगुरु तो चाहते ही नहीं थे कि तुम प्रश्न पूछो प्रश्नों के पूछने की वस्तुता मना ही थी प्रश्न पूछना नास्तिकता समझी जाती थी पुराने सदगुरुओं का जोर था हम जो कहें मानो भरोसा करो श्रद्धा रखो मेरा मामला जरा भिन्न है भरोसे की भाषा अब नहीं चलेगी पुराने सदगुरुओं को पता ही नहीं था एक दिन भरोसे की भाषा मर जाएगी विज्ञान ने प्राण ले लिए भरोसे की भाषा के विज्ञान संदेह पर खड़ा है विज्ञान पूछता है खोजता है प्रयोग करता है और जब तक सुनिश्चित परिणाम हाथ में ना आ जाए तब तक स्वीकार नहीं करता सारे जगत की हवा विज्ञान से भरी जो लोग विज्ञान से परिचित नहीं है वे भी वैज्ञानिक ढंग में धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं हर बच्चा वैज्ञानिक ढंग में ढला जा रहा है इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं विज्ञान आधुनिक जगत की आधारशिला है विज्ञान को झुटलाया नहीं जा सकता अब तुम किसी वैज्ञानिक से कहो कि हम जो कहते हैं मान लो तो वैज्ञानिक की पूरी की पूरी शिक्षा दीक्षा के विपरीत है ये बात अगर मेरी बात सुशिक्षित लोगों के ही समझ में आ रही तो उसका कारण अशिक्षित लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ सकती अगर मेरी बात पश्चिम के लोगों को ज्यादा समझ में आ रही तो उसका कारण है उसका कारण है कि पश्चिम विज्ञान के रंग में रंग गया है और पूरब में भी उनकी ही समझ में मेरी बात आ रही है और आएगी जो बौद्धिक रूप से विकसित है जो पूरब में या पश्चिम में बौद्धिक अभिजात्य है उससे ही मेरा तालमेल बैठेगा मैं कोई ग्रामीण भाषा नहीं बोल रहा हूं ग्रामीण भाषा ये कि जो कहा जाए वो मान लो प्रश्न तो पूछना ही मत नास्तिकता है प्रश्न पूछना और मेरे हिसाब में नास्तिकता आस्तिकता की सीढ़ी मेरे हिसाब में जो व्यक्ति कभी ठीक से नास्तिक नहीं हुआ वो कभी ठीक से आस्तिक नहीं हो सकेगा उसकी आस्तिकता हमेशा लचर पचर रहेगी पोष नपुंसक उसकी आस्तिकता में प्राण नहीं होंगे आत्मा नहीं होगी उसकी आस्तिकता कहीं न कहीं थोथी होगी वो हमेशा डरा रहेगा घबराया रहेगा कि कहीं कोई संदेह ना उठाए संदेह मिटाए तो है नहीं उसने सिर्फ दबाए विश्वास करने का क्या अर्थ होता है मैंने खुद कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया इसलिए मैं तुमसे कैसे कहूं कि विश्वास करो मैं तो अविश्वास के मार्ग से चला और सत्य तक पहुंचा मैं तो तुम्हें भी उसी मार्ग पर निमंत्रण दे सकता हूं जो मेरा जाना माना है जिससे चल के मैं आया हूं मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है असंभव है मेरे लिए कल्पना भी असंभव है ईश्वर को तुमने देखा नहीं कैसे मानोगे और अगर मान लिया तो तुम बेईमान हो और बेईमान आदमी कहीं धार्मिक होते धार्मिक आदमी को कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए इतना भी ईमान नहीं है सच पूछो तो ईमान शब्द का अर्थ धर्म होता है इतना भी ईमान नहीं है कि तुम कह सको कि मुझे पता नहीं तो मैं कैसे मानू तुम कायर हो लोग कहते हैं कि मानो और ऐसे लोग जिनके हाथ में ताकत है तुम ताकत के सामने झुकते हो तुम डंडे के बल को मानते हो तुम जिसकी लाठी उसकी भैंस में भरोसा रखते हो इसलिए रूस में लाठी नास्तिकों के हाथ में तो सारा देश नास्तिक यही लोग 1917 की क्रांति के पहले आस्तिक थे क्योंकि लाठी आस्तिकों के हाथ में थी ये चमत्कार तुम देखते हो रूस दुनिया के सर्वाधिक धार्मिक देशों में से एक देश था बहुत रूढ़िवादी बहुत रूढ़ी चुस्त बहुत दकियानुसी बहुत पुरातन पंथी साधारण से साधारण आदमी से लेकर रूस का जो सम्राट था जार जार तक सारे लोग अंधविश्वासी थे लेकिन यही रूस क्रांति के बाद दस साल में नास्तिक हो गया इसकी आस्तिकता तो थी बस ये आस्तिक था क्योंकि जिनके हाथ में डंडे थे वो आस्तिक थे और वो आस्तिकता आरोपित कर रहे थे फिर डंडे बदल गए नास्तिकों के हाथ में पहुंच गए और उन्होंने नास्तिकता थोप दी तुम सोचते हो तुम आस्तिक हो तुम आस्तिक नहीं हो तुम्हारे माँ बाप आस्तिक थे उन्होंने तुम पर आस्तिकता थोप दी वो भी आस्तिक नहीं थे उनके माँ बाप उन पर थोप गए ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती तुम सोचते हो आस्तिक हो पंडित पुरोहित अध्यापक राजनेता वो सब आस्तिक है मगर वो भी आस्तिक नहीं उन पे भी थोपा गया है इन सब के बीच ईमानदार आदमी पहला काम तो ये करेगा कि वो इस कूड़े कचरे को हटा के रख देगा वो कहेगा जो मैं नहीं जानता हूं उसे कैसे मान सकता हूं धार्मिक व्यक्ति जिज्ञासु होगा मुमुक्षु होगा विश्वासी नहीं और जिसने विश्वास कर लिया उसके जीवन में श्रद्धा कभी पैदा नहीं होगी क्योंकि उसने झूठे सिक्के पर भरोसा कर लिया तो असली सिक्के की खोज कौन करेगा क्यों करेगा जब झूठा ही असली मान लिया तब असली की खोज की झंझट क्यों उठानी कैसे उठानी तुमसे कहा गया है सदियों सदियों से कि अगर ईश्वर को पाना है तो पहले मानो ये भी कोई बात हुई ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का अपमान हुआ ये तुम्हारी आत्मा का अपमान हुआ मैं तुमसे कहता हूं अगर ईश्वर को जानना है तो मानना कभी नहीं अन्यथा तुम कभी जान ना सकोगे अगर ईश्वर को जानना है तो खोजना है विश्वास मत करना प्रयोग करना ध्यान प्रयोग है विश्वास नहीं जैसे विज्ञान बाहर प्रयोग करता है वैसे धर्म भीतर प्रयोग करता मगर दोनों प्रयोग करते विज्ञान के प्रयोग वस्तुगत होते हैं धर्म के प्रयोग आत्मगत होते हैं विज्ञान के प्रयोग पदार्थों पर होते हैं धर्म के प्रयोग चैतन्य पर होते हैं मगर दोनों प्रयोग हैं मेरे हिसाब में विज्ञान एक शब्द काफी है भविष्य में धर्म शब्द को जीने की कोई जरूरत नहीं विज्ञान की दो शाखाएं होंगी एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी बहिर्मुखी शाखा पदार्थ की खोज करेगी अंतर्मुखी शाखा चैतन्य की खोज करेगी और एक ही बात रह जाएगी विज्ञान और एक ही जीवन का दृष्टिकोण रह जाएगा वैज्ञानिक और तुम देखते हो वैज्ञानिक चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो उसका विज्ञान अलग अलग नहीं होता उसका विज्ञान तो एक ही होता है चाहे हिंदू पानी गर्म करे और चाहे मुसलमान 100 डिग्री पर पानी भाप बनता है तो 100 डिग्री पर बनता है वो ये नहीं देखता कि कौन गर्म कर रहा है गर्म करने वाला कुरान पढ़ता है कि गीता पढ़ता है कि बाइबल पढ़ता है पानी को क्या लेना देना जैसे विज्ञान ने एक कर दिया है दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को इसी तरह जिस दिन धर्म अंतर का विज्ञान होगा उस दिन दुनिया से ये सारे धर्म 300 धर्म है दुनिया में ये सब विदा हो जाएंगे इनके उपद्रव भी विदा हो जाएंगे मैं एक वैज्ञानिक धर्म की नींव रख रहा हूं या अंतर के विज्ञान की आधारशिला यहां तो पूछो जी भर के पूछो पूछोगे तो उसका अर्थ हुआ तुम खोज रहे हो जिज्ञासा करो और कंजूसी मत करना मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता इसलिए तुम्हारे प्रश्नों के विपरीत नहीं हूं चाहता हूं तुम्हारे भीतर प्रश्नों को जगाऊं सदियों सदियों से सोए पड़े प्रश्नों को उकसाऊं सदियों सदियों से तुम्हारे भीतर प्रश्नों के अंगार विश्वास की राख में दब गए उस राख को हटाऊं और अंगारों को फिर से हवा दूं फिर से वे दमकने लगे उनकी दमक के साथ तुम्हारे भीतर भी एक दमक आएगी इसलिए वेदांत तुम ये तो कहो ही मत कि हम प्रश्न पर प्रश्न क्यों पूछे चले जाते यहां नहीं पूछोगे तो कहां पूछोगे और कहीं पूछोगे तो फौरन तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा उतना ही पूछना जितना विश्वास की परिधि में आता हो और वो भी कोई पूछना है असली पूछना तब उठता है जब तुम विश्वास की परिधि के पार जाते हो और तुम्हारे छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो तुम्हारे छोटे मोटे महात्माओं की बात छोड़ दो वो गांव गांव फैले हुए हैं तुम्हारे बड़े से बड़े महात्मा भी बहुत भिन्न नहीं मात्रा के भला भेद हो गुण के भेद नहीं दिखाई पड़ते जनक ने उपनिषदों में कथा है एक बहुत बड़ा विराट आयोजन किया ब्रह्म ज्ञानियों को बुलाया उस आयोजन में दो अपूर्व घटनाएं घटी एक तो घटना घटी याग्नवल्क के संबंध में याग्नवल्क उस समय का बहुत बड़ा तथाकथित ज्ञानी था तथाकथित ही मैं कहूंगा कम से कम उस समय तक तो तथाकथित ही रहा होगा बाद में सच्चा हो गया हो तो परमात्मा जाने और अहंकारी भी रहा होगा क्योंकि जनक ने एक हजार गौए भवन के बाहर राजमहल के बाहर खड़ी कर रखी थी उनके सींग सोने से मड़ दिए थे वो पुरस्कार था जो भी ब्रह्म ज्ञान में जीत जाएगा वो हजार गऊ को ले जाएगा सुंदरतम गऊ थी श्रेष्ठतम गऊ थी सोने से मड़े उनके सींग थे बड़ा पुरस्कार था अब ब्रह्मज्ञानी पुरस्कार के लिए जाएंगे पहले तो यही जरा सोचने की बात है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी न हुए बच्चे हुए कि कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में पहुंच गए कि जीत लाएंगे कोई चांदी का कप कि सोने की सील्ड ब्रह्मज्ञानी न हुए बहुत बचकाने हुए सारे ब्रह्मज्ञानी इकट्ठे हो गए कौन छोड़े हजार गऊ गऊ उस समय बड़ी संपदा थी और श्रेष्ठतम गऊ थी वे जनक के गौशाला की याग्नवल्क पहुंचा जरा पहुंचने में उसे देर हो गई आश्रम उसका दूर था और अपने शिष्यों के साथ पहुंचा गऊ बाहर खड़ी थी धूप में पसीना पसीना हो रही थी उसने अपने शिष्यों से कहा कि तुम गऊ को खदेड़ के आश्रम ले जाओ विवाद में जीत लूंगा ये बात बड़े अहंकार की है जनक भी चौंका और ब्रह्मज्ञानी भी भड़के मगर वो जानते थे कि याग्नवल्क है तो बड़ा शास्त्रज्ञ तो कोई कुछ बोला नहीं उसके शिष्य गऊ को खदेड़ के आश्रम ले गए अभी जीता है नहीं और पुरस्कार उन्होंने उठा ही लिया अहंकार की और क्या घोषणा हो सकती ब्रह्मज्ञानी तो विनम्र होगा ऐसा अहंकारी नहीं हो सकता फिर दूसरी घटना घटी कि उसने सारे ब्रह्म ज्ञानियों को हरा दिया हरा दिया क्योंकि वो तार्किक था और शास्त्रों के खूब उल्लेख उसने दिए कोई दूसरा उतना बड़ा पंडित नहीं था फिर एक महिला एक स्त्री ब्रह्मवादिनी गार्गी खड़ी हुई और उसने उससे तीन चार प्रश्न पूछे और जिससे गऊ को पसीना बह रहा था ऐसा पसीना याग्नवल को बह गया गार्गी के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है और तब से ही भारत के तथाकथित ब्रह्मज्ञानी स्त्रियों से नाराज हुए तो उन्होंने उनके लिए वेद पढ़ने की मनाही कर दी स्त्रियों से ऐसे भी विवाद में जीतना जरा मुश्किल है सभी पति जानते याग्नवल को भी पता होगा वो भी कोई साधारण पति नहीं था उसकी दो पत्नियां थी मैत्रेयी और कात्यायनी अब दो पत्नियों के अनुभव से उसको पता होगा अच्छी तरह जब गार्गी खड़ी हुई तो गार्गी ने पूछा कि मैं ये पूछती हूं ये पृथ्वी किस पर टिकी थोड़ा याग्नवल्क चौंका क्योंकि प्रश्न शास्त्रीय नहीं था स्त्रियों को शास्त्र वगैरह से क्या लेना मगर ऐसी कोई रोक भी न थी कि शास्त्रीय प्रश्न हो तो उसे उत्तर तो देना पड़ा उत्तर तो बुद्धूपन का था कि कछुए पे टिकी ये पृथ्वी मगर उस समय के ब्रह्मज्ञानी तथा तथा ब्रह्मज्ञानी यही समझते थे कि पृथ्वी कछुए पे टिकी मगर गार्गी यूं हार जाने वाली न थी उसने कहा कछुए कस पे टिका हुआ है तो कछुआ भी किसी पे टिका होना चाहिए वो हाथी पे टिका हुआ है और फिर हाथी किस पे टिका हुआ है तब याग्नवल्क समझ गया है कि ये स्त्री दिक्कत में डालेगी मैं कुछ भी कहूंगा ये पूछेगी वो किस पे टिका हुआ वो किस पे टिका हुआ वो किस पे टिका हुआ इसने एक ऐसा प्रश्न उठाया है कि मेरी फजीयत करा के रहेगी तो उसने कहा इसको एक सीधा जवाब दे देना उचित है और उसने कहा कि ये सब इतने प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं प्रत्येक चीज ब्रह्म पे टिकी हुई गार्गी ने पूछी तो मैं भी एक ही प्रश्न पूछती हूं फिर कि ब्रह्म किस पे टिका हुआ है वल्प आग बबूला हो गया उसने कहा गार्गी ये अति प्रश्न है अगर आगे तूने बकवास की तो तेरा सिर धड़ से गिर जाएगा इसके बाद शास्त्र तो कुछ नहीं कहते कि क्या हुआ मगर ये कोई बात ना हुई उसका प्रश्न अति प्रश्न नहीं है कोई प्रश्न अति प्रश्न नहीं है लेकिन याग्नबल कितना घबरा क्यों गया ब्रह्म किस पर टिका है वो ठीक पूछ रही है या तो पहले ही कह दो कि कोई चीज किसी पर नहीं टिकी है जब पहले से तुम जवाब देने को तैयार हो तो फिर आगे चल के एक जगह जाके कहना कि यह अति प्रश्न हो जाएगा अति प्रश्न का क्या अर्थ जो नहीं पूछना चाहिए क्यों नहीं पूछना चाहिए इसलिए कि ब्रह्मज्ञानी के पास उत्तर नहीं अति प्रश्न क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की बेजती हो जाएगी अति प्रश्न क्योंकि वो एक हजार गऊ वापस लौटानी पड़ेंगी ये बड़ी भद्द हो जाएगी और ये भी कोई धमकी ये उत्तर हुआ ये बातचीत हुई ये तो मारपीट पे बात उतर आई मारामारी पे बात उतर आई कि सिर धड़ से गिरा दिया जाएगा कि सिर धड़ से गिर जाएगा बस अब चुप हो जा ये तो जबरदस्ती हो गई ये जवाब ना हुआ लठ मारना हुआ और तब से स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान में भाग लेने का हकदार नहीं समझा गया हालांकि मेरी दृष्टि में गार्गी ने ठीक पूछा था याग्ञवल के पास उत्तर नहीं था तो क्षमा मांगनी थी तो झुक के गार्गी के चरणों में बैठना था और कहना था कि गार्गी मेरे पास उत्तर नहीं अगर तेरे पास उत्तर हो तो तू दे मैं तुझसे पूछता हूं फिर मैं हार गया मगर अहंकार कहीं अपनी पराजय स्वीकार करे और पुरुष स्त्री के सामने पराजय स्वीकार करे असंभव फिर तो उचित यह था कि स्त्रियों के लिए द्वार ही दरवाजे बंद कर दो क्योंकि स्त्रियां पार्थिव होती उनके प्रश्न भी ज्यादा ठोस होंगे ज्यादा वास्तविक होंगे ज्यादा यथार्थवादी होंगे हवाई कम होंगे उनको हवाई बातों में कम रस होता है व्यर्थ की बकवास में कम रस होता है और दूसरी घटना उस जनक की ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में घटी अष्टावक्र का आना अष्टावक्र का पिता भी ब्रह्मज्ञानी था वो भी गया था भाग लेने देर होती देखकर अष्टावक्र की मां ने कहा कि बहुत देर हो गई तुम्हारे पिता आए नहीं जाओ उन्हें बुला लाओ अष्टावक्र का नाम अष्टावक्र इसीलिए था कि उसका शरीर आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा था बड़ा कुरूप रहा होगा बेचारा आज जगह से सदी टेढ़ा मेढ़ा हो तो आदमी कम ऊंट ज्यादा ऊंट भी देख के हंसने लगे अष्टावक्र गया जैसे अंदर प्रविष्ट हुआ सारे ब्रह्मज्ञानी हंसने लगे अष्टावक्र तो और जोर से ताली बजा के हंसा वो इतने जोर से ताली बजा के हंसा कि ब्रह्म ज्ञानियों में एकदम सन्नाटा छा गया एक तो गार्गी फजीयत कर गई थी किसी तरह गार्गी से सुलझे तो यह अष्टावक्र आ गया जनक ने पूछा अष्टावक्र इन सब का हंसना तो मेरी समझ में आया लेकिन तू ताली बजा के क्यों हंसा उसने कहा मैं इसलिए ताली बजा के हंसा कि मैं तो सोचता था कि ये सभा ब्रह्मज्ञानियों की ये चमार यहां किस लिए इकट्ठे हुए जहन का चमार अष्टभगवान का निश्चित चमहार जिनको चमड़ी दिखाई पड़े वो चमहार आत्मा तो मेरी भी वैसी ही है जैसी इनकी मेरी आत्मा में और इनकी आत्मा में कोई भेद नहीं मेरी आत्मा ऐसी तिरछी नहीं सिर्फ मेरी चमड़ी है मेरी चमड़ी देख के अगर चमहार हंसे तो छमे मगर ये ब्रह्मज्ञानी हंसते और तुम जान के हैरान गए जनक अष्टावक्र का शिष्य हो गया याग्नबल का शिष्य नहीं हुआ याद रखना अष्टावक्र का शिष्य हुआ उसने अस्तवक्ष से कहा कि मुझे बोध दो मुझे लगता है कि वो जो देह के अतीत है उसका तुम्हें बोध हुआ है तुमने बात पते की कही है और तुम इस सभा में विवाद लेने आए भी नहीं थे तुम तो सिर्फ अपने पिता को बुलाने आए थे मैं भी सोचता था कि सारे ब्रह्मज्ञानी कैसे ब्रह्मज्ञानी का हजार गऊ के पीछे चले आए पुरस्कार पाने की आकांक्षा में ये बच्चों को शोभा देता है लेकिन तुम जरूर कुछ पते की बात कह रहे हो ये दो घटनाएं उस अद्भुत सभा में घटी थी भारत में और भारत के बाहर भी सदियों से हमने ब्रह्म ज्ञान को ही अति प्रश्न बना रखा है असली बात पूछना ही मत व्यर्थ की बातों में लोग उलझे हुए हैं मध्य युग में यूरोप में पंडित और पुरोहित विचार करते थे कि एक सुई की नौक पर कितने देवता नाच सकते इस पे विवाद चलता था और ये बड़े बड़े संत थे महंत थे ऋषि थे महर्षि थे और इनकी बातचीत अगर तुम अपने शास्त्रों को उठाकर देखोगे तो इसी तरह की व्यर्थताओं से भरे हुए पाओगे जिज्ञासा शुभ है और मेरे हिसाब में नकार पहले है फिर ही स्वीकार है जिसने नहीं नहीं कहा उसके हां कहने में कभी भी तेजस्वीता नहीं होती इसलिए तुम जितना नहीं कह सको कहो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी थोपने को नहीं हूं यहां तुम पूछो जी भर के पूछो क्योंकि मैं पूछ पूछ कर खोज खोज कर इंकार करते करते परम स्वीकार को उपलब्ध हुआ ऐसे ही तुम भी उपलब्ध हो गए ये मत सोचना कि पूछना उचित नहीं है पूछने से अश्रद्धा प्रकट होती नहीं जरा भी नहीं पूछने से श्रद्धा प्रकट होती है तुम पूछने के ये बता रहे हो कि तुम मुझे इस योग मानते हो कि मुझसे पूछो ये तुम्हारा सम्मान है मेरे प्रति तुम जितना पूछते हो उतना ही तुम कह रहे हो कि तुम्हें आशा है उत्तर की अपेक्षा है अभिप्सा है प्यास है इसलिए वेदांत पूछते चले जाओ संकोच न करना तुम्हारी आदतें पुरानी हैं इसलिए बहुत तुम में से ये सोचते होंगे कि क्यों लोग इतना प्रश्न पूछते अरे चुपचाप मान लो मान लो और बस बात खत्म हो गई ये कमजोरों के लक्षण ये कायरों के लक्षण ये खोजियों के लक्षण नहीं अन्वेषणों के लक्षण नहीं ये वीरों के लक्षण नहीं मेरी पुकार तो साहसियों के लिए दुस्साहसियों के लिए जुआरियों के लिए धर्म मेरे लिए आत्यंतिक जिज्ञासा है वहां कोई प्रश्न अति प्रश्न नहीं यदि भी मैं जानता हूं कि किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं लेकिन मेरे उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे प्रश्नों को तिरोहित करते जाएंगे उत्तर नहीं मिल जाएगा तुम्हें ख्याल रखना उत्तर तो तुम्हें मिलेगा अपने ही अनुभव से लेकिन मेरे उत्तर तुम्हारे प्रश्नों को काटते जाएंगे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना बचेगा और जब कोई प्रश्न ना बचेगा तो कोई शब्द भी ना बचेगा उसी निशब्द में उसी निष्प्रश्न दशा में समाधि का फूल खिलता है और वही परम अनुभव है वही मुक्तिदायी है तुम पुरानी आदत छोड़ो वेदांत ये आदत तुम में होगी क्योंकि निवासी हो तुम वाराणसी के सो बड़ी खतरनाक जगह से आते हो वाराणसी नंबर एक की खतरनाक जगह पूना समझो नंबर दो ये महाराष्ट्र की वाराणसी है ये पंडितों के गढ़ पंडित यानी जड़ बुद्धि मंद बुद्धि जो यंत्रवत शास्त्रों को दोहराए चले जाते जिनके लिए ब्रह्म ज्ञान तकिया कलाम जैसा हो जाता है रट गया होता है मैंने सुना चंदुलाल की आदत थी कि प्रत्येक बात के अंत में कहते आपके मुंह में ये उनका तकिया कलाम था एक दिन नसरुद्दीन उनसे बोला कि क्यों भाई चंदूलाल अरे कहा जा रहे हो सवेरे सवेरे चंदूलाल बोले अजी मिया बस यही नुक्कड़ तक जा रहा था आपके मुंह में नसरुद्दीन बोला ठीक है ठीक है अरे जहां मर्जी हो वहां जाओ हमें क्या गुस्सा तो नसरुद्दीन को बहुत आया है कि ये भी कोई बात हुई आपके मुंह में नुक्कड़ मेरे मुंह में सड़क का नुक्कड़ लेकिन फिर भी एक बात उसे चंदुलाल से कहनी थी तो उसने कहा कि सुनो भाई एक बात जरूर तुमसे कहनी थी जहां तुम्हें जाना हो जाओ मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं लेकिन जरा अपने साहब जादे को समझाना कल की ही बात है सामने के मैदान में क्रिकेट खेलते समय हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया चंदूलाल बोले अरे भाईजान जो कुछ भी नुकसान हुआ आपके मुंह में उसकी मरम्मत करवा देंगे आपके मुंह में अरे ऐसी कौन सी खास बात हो गई आपके मुंह में अरे एक शीशा ही टूट गया ना आपके मुंह में नसरुद्दीन यह सब सुनकर पगला गया और बोला कि अबे चंदूलाल के बच्चे अकल के कच्चे ये बार बार क्या लगा रखा आपके मुंह में अब यदि एक बार और बोला आपके मुंह में तो ऐसा घूसा मारूंगा आपके मुंह में कि सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे आपके मुंह में और जिंदगी भर याद रखेगा आपके मुंह में इस देश में तो ब्रह्म ज्ञान तकिया कलाम जैसा है हर कोई ब्रह्म ज्ञान दोहरा रहा है जो देखो वही बाबा तुलसीदास की चौपाइया याद किए बैठे चौपाइया याद कर करके सब चौपाए हो गए ऐसी कंठस्थ हो गई हैं कि नींद में भी बड़बड़ाते तो चौपाई ज्ञान की बात है जीवन में कहीं कोई लक्षण नहीं जीवन ठीक उल्टा जीवन ठीक उसके विपरीत लेकिन जीवन से किसी को लेना देना नहीं जीवन रूपांतरित होता है प्रयोग से अनुभव से खोज से मानने से नहीं जानने से मेरा सारा जोर जानने पर है मैं ईश्वर को जानता हूं और चाहता हूं कि तुम भी ईश्वर को जानो और मैंने मानकर नहीं जाना इसलिए तुमसे मैं कैसे कहूं कि मान के तुम जान सकोगे और मेरे जानने में किसी ने कभी मान कर नहीं जाना है जिन्होंने मान के सोच लिया हो कि जाना है वो भ्रांति में ही जिए और भ्रांति में ही मरे मैं अपने किसी सन्यासी को भ्रांति में न जीने देना चाहता हूं और न भ्रांति में मरने देना चाहता हूं मैं चाहता हूं तुम सजग हो तुम पर फूलों की वर्षा हो तुम्हारे भीतर दिया जले तुम जगमग हो उठो अपने अंतर प्रकाश से चौथा प्रश्न भगवान क्या बुद्धत्व की भी श्रेणियां होती हैं क्या इसलिए हिंदुओं ने अवतारों की कलाएं निर्धारित की सहजानंद बुद्धत्व का अर्थ ही होता है सीढ़ियों का अतिक्रमण कर जाना श्रेणियों के पार हो जाना जहां सब सीमाएं समाप्त हो जाती जहां सब माप गिर जाते जहां अमाप शुरू होता है वही बुद्धत्व है इसलिए दो बुद्धों में कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं होता मगर ये सब श्रेणियों का निर्धारण बुद्ध पुरुष नहीं करते बुद्धू करते और बुद्धू तो अपने ही ढंग से करेंगे ना बुद्धू तो हर चीज में श्रेणियां खोजेंगे वो तो हर चीज को तराजू पे तोलेंगे एक जैन पंडित थे ऋषभ दास रांका वे ही मुझे सबसे पहली दफा पूना लाए थे अगर पूना को नाराज होना चाहिए तो ऋषभ दास रांका पर मेरा इसमें कुछ कसूर नहीं मैं तो शायद कभी पूना आया भी नहीं होता वे गांधी जी के साथ वर्षों तक रहे वर्धा में ही रहे बड़े सर्वोदयी थे गांधी और विनोबा का सत्संग करते करते एक बात उन्होंने सीख ली रट ली तकिया कलाम हो गया उनका कि सब धर्म समान है यू कहने तो लगे मगर ये बात रही ऊपर ही ऊपर भीतर तो जाति कैसे भीतर तो जैन धर्म बैठा हुआ था उन्होंने एक किताब लिखी महावीर और बुद्ध पर मुझे उसकी पांडुलिपि दिखाई और कहा कि आप अपना मंतव्य दें मैंने किताब का शीर्षक देखा और लौटा दी मैंने कहा कि बस शीर्षक देख लिया उतना बहुत उनका क्या कहते मैंने कहा बस खत्म हो गई बात आगे कुछ कहना नहीं इतना ही बहुत है शीर्षक ने ही सब बता दिया महावीर और बुद्ध के संबंध तो नहीं आपके संबंध में सब बता दिया शीर्षक था किताब का भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध मैंने पूछा कि एक को भगवान और दूसरे को महात्मा क्यों लिखते हो और अब तक मेरी खोपड़ी चाटते रहे कि सब धर्म समान है और जो गीता में लिखा वही धम्म पद में वही कुरान में वही जिनवाणी में फिर ये भेद क्यों कहने लगे वो आपसे क्या छिपाना माना कि सब धर्म समान है मगर महावीर एक सीढ़ी ऊपर तो रखना ही होगा वो भगवान है वीतराग पुरुष है बुद्ध माना कि बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं लेकिन महात्मा ही हैं अभी भगवान नहीं अभी एक सीढ़ी नीचे कोई जैन बुद्ध को महावीर के साथ नहीं रख सकता एक साथ नहीं रख सकता अड़चन होती कठिनाई होती और जब बुद्ध को नहीं रख सकता महावीर के साथ तो फिर औरों का तो कहने क्या मोहम्मद को तो तुम सोचो कैसे रखेगा मोहम्मद तो तलवार लिए रहते थे बुद्ध का कसूर अगर जैनियों की नजर में कुछ था तो दो कसूर थे एक तो कसूर ये था कि वो कपड़ा पहनते थे भगवान को कपड़ा पहनना नहीं चाहिए अरे भगवान को क्या छिपाना सब प्रकट होना चाहिए उसे तो बच्चे की तरह निर्दोष होना चाहिए जैसे कपड़े ही उतार देने से कोई बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है तो हिंदुओं के इतने नागा साधु हैं ये सब निर्दोष बच्चे ये छठे हुए बदमाश मालूम होते तुम किसी भी कुंभ में इनकी जमात देख लो ये सबसे ज्यादा उपद्रवी हर कुंभ में कोई झगड़ा होता है कोई मारपीट खड़ी होती भाले चलते इन्हीं नागा साधुओं की वजह से क्योंकि वो कहते हैं पहले स्नान करने का हक हमारा क्योंकि हम नंगे हैं और इनका नंगापन भी बड़ा मजेदार है ये जब कुंभ में आते तभी नंगे हो जाते बाकी अपने अखाड़ों में कपड़े पहनते अखाड़ों में कौन देखता है इसलिए आमतौर से तुम्हें ये नागा साधु और कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे सिर्फ कुंभ में दिखाई पड़ेंगे बाकी समय अपने अखाड़ों में कपड़े पहन के रहते सिर्फ नंगे हो जाने से अगर कोई भगवान होता हो तो सारे पशु पक्षी नंगे एक तो वो गलती थी बुद्ध की वो कपड़ा पहनते थे दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए आज्ञा दी बुद्ध का कहना यह था कि मारने में हिंसा है मांस खाने में हिंसा नहीं बात तो तर्कयुक्त है अर्थपूर्ण है मारने में हिंसा है मांस खाने में क्या हिंसा हो सकती है तब जो जानवर मर गया है उसके मांस को खाया जा सकता है बस ये दो बातों ने बड़ी बेचैनी पैदा कर दी और सब बातों में मेल खाता हो तो भी ये दो बातें आचन कर गई तो महात्मा मान लिया यही बहुत है असल में उनका मतलब ये था मुझसे कहने का कि आप ये समझिए मेरे संभाव को कि मैंने महात्मा मान लिया यही कम है क्या कोई जैन महात्मा भी मानने को तैयार नहीं तो मोहम्मद को तो छोड़ ही दो जीसस की तो बात ही ना उठाओ मेरे पास जैन पत्र लिखते क्या आप जीसस और महावीर को एक साथ बोल देते दोनों के नाम ये बात ठीक नहीं ये हमारे महावीर का अपमान है अरे कहा महावीर रास्ते पे चलते थे अगर कांटा सीधा पड़ा हो तो उनको देख के उल्टा हो जाता था कि कहीं पैर में गड़ ना जाए ये लक्षण है तीर्थंकर का और ये जीसस जिनको सूली लगी सूली लगने का साफ मतलब है कि किसी पिछले जन्म में कोई महापाप किया होगा कोई छोटा मोटा पाप नहीं कोई महापाप किया होगा तभी तो सूली लगेगी ना कर्म का फल ही तो भोगना पड़ेगा हर किसी को तो सूली नहीं लगती कांटा भी नहीं गा सकता तीर्थंकर को क्योंकि उसके सारे पाप छह हो गए उसकी निर्जरा हो गई अब कांटा भी कैसे गड़ेगा कांटा गड़ने के लिए भी कोई पाप किया हो ये होना चाहिए कहा जीसस और कहा महावीर आप दोनों को एक साथ बोल देते ठीक नहीं करते और अगर ईसाई से पूछो मेरे पास ईसाई मिशनरियों ने कहा है आप कि आप जीसस के साथ महावीर और बुद्ध को न तोलें तो अच्छा जीसस ने मनुष्य जाति के लिए अपना जीवन दे दिया इन्होंने क्या दिया जीसस ने अंधों को आंखें दी बहरों को कान दिए लंगड़ों को पैर दिए महावीर ने किसकी सेवा की एक अस्पताल भी तो नहीं खोला एक प्राइमरी स्कूल ही खोल देते वो भी तो नहीं किया सेवा तो नाम मात्र को नहीं जब सेवा ही नहीं है तो क्या खाक करुणा और क्या उपलब्धि ये महावीर और बुद्ध ने तो स्वार्थ सिखाया इनकी गिनती आप कहा जीसस के साथ कर रहे जिसने कि मनुष्य के उद्धार के लिए मनुष्य के मोक्ष के लिए अपने को सूली पर लटकवा लिया परिभाषाएं बदल गई उनको लगता है दुख कि मैं महावीर और बुद्ध का नाम जीसस के साथ लेता हूं बौद्धों को दुख लगता है कि मैं महावीर का नाम बुद्ध के साथ लेता हूं क्योंकि बौद्ध शास्त्रों में महावीर का बहुत मजाक उड़ाया गया है महावीर को महात्मा भी नहीं माना गया है भगवान होना तो दूर ज्ञानी भी नहीं माना है ये बुद्धुओं की दुनिया है ये बुद्धुओं की दुनिया में हिसाब किताब इस तरह बिठाए जाएंगे कि हरेक के पास अपना तराजू है अपना मापदंड है अपने बटखरे हैं उनसे वो तोलेगा अन्यथा जो व्यक्ति जाग गया जो परम जीवन को अनुभव कर लिया उसमें कोई भेद नहीं होते ये कलाओं इत्यादि की बातें सब व्यर्थ है ये हमारे हिसाब है क्योंकि हम सभी को समान नहीं रख सकते हम बिना तोले मान ही नहीं सकते एक नेताजी चुनाव में हार गए जब वे घर लौटे तो उनकी पत्नी बोली तुम्हारे हारने जीतने से मुझे कोई मतलब नहीं तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें मिले दो वोटों में से एक तो मेरा था लेकिन दूसरा किस चुड़ैल का था पत्नियों के अपने मापदंड होंगे हारने जीतने से क्या लेना देना ये सब बाल है असली कि तुम्हें दो वोट मिले वो कैसे मिले एक तो मेरा था वो मैंने डाला दूसरा किस चुड़ैल का था बुद्धू तो बुद्धू रहेंगे वो बुद्धों के संबंध में भी चर्चा करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है उनका बुद्धूपन तो आ ही जाएगा एक होटल में आग लग गई सब लोग जान बचाने के लिए हड़बड़ाकर भाग खड़े हुए फायर ब्रिगेड का इंतजार करने लगे उसी समय होटल में ठहरने वाले एक यात्री ने अपने पास खड़े लोगों से कहना शुरू किया मैं तो आग से जरा भी नहीं घबरा था आग लगने पर मैं ठाठ से उठा शर्ट पहनी घड़ी बांधी टाई संवारी बाल में कंघी कंघी की सिगरेट जलाया फिर शान से बाहर निकल के आ रहा हूं एक तुम हो कि कायरों की तरह भागे हड़बड़ा के अरे क्या यूं डरना ये शोभा देता मनुष्य को मर्दों को पास में ही खड़े एक यात्री ने कहा श्रीमान आपने सब कुछ तो किया परंतु पतलून पहनना क्यों भूल गए तुम अगर बुद्धों के संबंध में भी सोचोगे तो भी कुछ ना कुछ भूल हो ही जाएगी टाई संभाल ली होगी मगर पतलून का क्या हुआ है इधर संभालोगे उधर बात उभर जाएगी तुम्हारी चादर छोटी तुम करो भी क्या सिर ढांकोगे पैर उभर जाएंगे पैर ढांकोगे सिर उभर जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं से बात जाहिर हो जाएगी सहजानंद तुम पूछते हो क्या बुद्धत्व की भी श्रेणियां होती हैं नहीं कोई श्रेणियां नहीं होती बुद्धत्व का अर्थ ही है श्रेणियों का अतिक्रमण और तुम पूछते हो क्या इसलिए हिंदुओं ने अवतारों की कलाएं निर्धारित की इसीलिए नहीं बल्कि इसीलिए कि हमको सबके लिए जगह बनानी पड़ती शिष्टाचार बस कुछ तो जगह सबके लिए बनानी पड़ेगी अच्छे लोग सबको जमा के रख देते अपने को सबसे ऊपर रख लेते हैं कृष्ण को मानने वाला कृष्ण को सबसे ऊपर रख लेता है वो अवतार है बाकी सब अवतार अपूर्ण अवतार है बुद्ध को मानने वाला कृष्ण को अवतार नहीं गिनता गिन ही नहीं सकता पूर्णावतार होने की तो बात दूर महावीर को मानने वालों ने तो कृष्ण को नरक में डाल रखा है सबके अपने अपने हिसाब हैं मुसलमान कहते हैं मोहम्मद अंतिम पैगंबर बस ईश्वर की आखिरी किताब उतर आई कुरान अब किसी किताब की कोई जरूरत नहीं हाँ उसके पहले भी पैगंबर हुए हैं जीसस हुए मोजिस हुए इब्राहिम हुए मगर ये सब वाय हो गए जब मोहम्मद आ गए तो आखिरी किताब आ गई फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं भले लोग इतना तो मान लेते हैं कि चलो जीसस को भी स्वीकार कर लिया कि ये भी पैगंबर थे छोटे मोटे अच्छे आदमी थे मगर मोहम्मद के सामने तो सब फीके पड़ गए सूरज उगाया सब तारे बुझ गए अब दिए जलाने की कोई जरूरत ना रही हालांकि दिया भी रोशनी देता अंधेरे में जब मोहम्मद नहीं थे तो इनकी जरूरत थी ये हम बुद्धुओं के हिसाब है बौद्धों का इससे कोई संबंध नहीं जागृत पुरुषों का इससे कोई संबंध नहीं नींद में भेद होते हैं कोई मीठा सपना देख रहा है कोई कड़वा सपना देख रहा है कोई सुखद कोई दुखद लेकिन जाग गए सपने खत्म हुए फिर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है फिर वस्तुता व्यक्ति है ही नहीं समष्टि है बूंद खो गई सागर में अब क्या बूंद का हिसाब मगर हमारी पुरानी आदतें हमें सोचने के ढंग हम आरोपित ही किए चले जाते हम छोड़ते ही नहीं किसी को हम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लेंगे अपनी मूर्ता ना छोड़ेंगे अपनी मूर्ता के माध्यम से ही हम बुद्धों को भी देखेंगे फिर भूल चूक होनी स्वाभाविक है कोई बुद्ध पुरुष किसी से ना नीचा है ना ऊंचा न कोई बुद्ध पुरुष पूर्ण है न कोई अपूर्ण बुद्धत्व पूर्णता का नाम है अब इससे और ज्यादा कोई पूर्ण नहीं हो सकता पूर्ण हो सकता है संगीत के गुरु ने अपने एक शिष्य से पूछा तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो शिष्य ने तुरंत कहा हड़ताल के विषय में आदमी भी करे तो क्या करे ताला चाबी मरम्मत करने वाला व्यक्ति कभी उपवास नहीं रखता था पत्नी उसके बहुत पीछे पड़ी रहती थी पत्नियां तो पतियों को धार्मिक बनाने के पीछे पड़ी ही रहती पता नहीं उन्हें क्या बेचैनी है पतियों को मोक्ष भेजना ही है उनको अपना मोक्ष तो वो तय कर किए हुए कहीं पति पीछे न छूट जाए उनको भी साथ ही ले जाना है ताकि वहां भी सताएं इधर उधर कहीं छूट गए कहीं किसी और से आंख में चोनी करने लगे कुछ हरकत करने लगे तो नजर भी रखनी पड़ेगी ना मोक्ष में भी तो पत्नी एकदम पीछे पड़ी थी बहुत ही पीछे पड़ी तो बेचारा आदमी भी क्या करे उसने एक दिन उपवास कर लिया शाम को पत्नी ने पूछा तुम्हारे रंग ढंग से ऐसा मालूम पड़ता है कि तुमने उपवास खोल दिया टाया होगा बाजार में आखिर पति भी तो अपनी आत्मरक्षा का उपाय कोई ना कोई करता ही है लेकिन पति ने क्या कहा पति ने कहा भी नहीं चाबी ही गुम गई है खोलूं तो कैसे खोलूं ताला चाबी खोलने का उनका धंधा था उपवास खोलना उनको तत्ण अपनी भाषा ही याद आई तुम जिंदगी को नापते हो तोलते हो बड़े छोटे में ऊंचे नीचे में शूद्र हैं ब्राह्मण हैं महापुरुष हैं संत हैं सज्जन हैं दुर्जन हैं बस वही हिसाब तुम बुद्ध पुरुषों पे भी लगा देते हो बुद्ध पुरुष का ही अर्थ होता है तुम्हारे हिसाब के बाहर जहां तुम अवाक रह जाओ आश्चर्य विमुक्त जहां बोल ना निकले जहां कहने को कुछ न सूझे जहां हृदय धक से रह जाए तो तुम्हारी सारी अब तक की आते अब तक के विचार की प्रक्रियाएं एकदम व्यर्थ हो जाएं, वही समझना कि किसी बुद्ध पुरुष से सम्मेलन हुआ है आज इतना